Ladies and gentlemen, welcome to this special occasion. सुरनाथ अकेदमी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज का बयासीवा जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ गैत्र हुए हैं और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम उनका जन्मदिन उस तरीके से मना रहे हैं जो उनको बहुत पसंद है मतलब जितना उन्होंने संगीत के लिए किया है प्रचार किया है संचार किया है बच्चों को सिखाया है शायद ही भारत में कोई ऐसी शख्सियत हो जिनका इतना योगदान रहा हो संगीत के सिलसिले में तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत रिवायती ढंग से शुरू कर रहा हूँ यह है उनके चरणों में एक शेर अर्ज किया है तो प्रोग्राम की शुरुआत के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा सतगुर के शहदाइयों ने है छेड़े सुर संगीत सतगुर के शैदाइयों ने है छेड़े सुर संगीत भैनी से लंदन तक गूंजे गुर महमा के गीत सतगुर के शैदाइयों ने है छेड़े सुर संगीत भैनी से लंदन तक गूंजे गुर महमा के गीत आओ पावन जन्म दिवस पर प्रकट करें हम प्रीत सुर के बल से जीत रहे हैं जग को गुरु जग जीत तो सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के बयासीवें जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई और इसी के साथ हम कार्यक्रम शुरू करेंगे सबसे पहले सुरनाथ म्यूज़िक एकेडमी की ओर से तीन स्टूडेंट्स आपके सामने ये कार्यक्रम पेश करेंगे ये हैं मान सिंह मान कौर और जसमीत सिंह गुरुदेव सिंह के ये तीनों स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी दिलरुबा बजाते हैं बहुत बड़े तबले के पंडित हमारे जिनको सारी दुनिया अब जानती है सुखविंदर सिंह जी नामधारी जिनको ज़्यादा लोग पिंकी के नाम से भी जानते हैं और इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये हमारा जो ब्रोशर है इसमें पूरी तफसील लिखी हुई है सारे कलाकारों की मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपके सामने ये बच्चे पेश कर रहे हैं राग बिहाग तो इनका स्वागत कीजिए बड़ी गर्मजोशी के साथ